उषा सुवायुसोदस्थाम् अमृतामनु सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं पढ़ने वालों में भिन्न भिन्न स्थिति देखी जाती है जो उपदेश सुनते हैं पाठ पढ़ते हैं उनमें भिन्न भिन्न स्थिति देखी जाती है उनमें से एक स्थिति एक व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है बहुत ध्यान से पढ़ता है और फिर मनन करता है निधि ध्यासन करता है उसको आचरण में व्यवहार में लाता है और उसके पश्चात फिर अपने अध्यापक गुरु आचार्य से पूछता है जो सुनी थी पढ़ी थी उन बातों से अतिरिक्त बातों को पूछता है और स्वयं जो सुनता पढ़ता मनन करता उससे संबद्ध उसे से अनेक बातों को जान लेता है ये अच्छी प्रवृत्ति अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है दूसरा व्यक्ति वो विधि पूर्वक नहीं सुनता है सुनने पर उसका मनन भी नहीं करता निधि ध्यासन और साक्षात्कार व्यवहार में भी नहीं उतारता और जो सुना पड़ा है उससे अतिरिक्त बातों की जिज्ञासा उसके पूछने की नहीं है और उससे संबद्ध ऊहा जो करनी चाहिए वो वो नहीं करता जितनी उसको समझ में आती है उनको भी फिर वो भूल जाता है ये बुरे लक्षण का जो विद्यार्थी है उसकी रूपरेखा है अब आप आत्मनिरीक्षण करो आप कौन सी कोटि में हाँ जी बोलो दोनों के बीच की स्थिति है स्वामी हाँ जी बोलो कौन सी स्थिति में आप दर्शनों का जो अध्यापन है उसमें तो रुचि रहती है आगे और जानना जाए आत्मनिरीक्षण से पता चलेगा कि इन दो प्रकार की धाराओं के विद्यार्थियों में आप कौन सी कोटि में हैं कैसी स्थिति है आपकी जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा यदि हमारी स्थिति खराब है तो हम उसको सुधारेंगे और जो अस्थि स्थिति है उसका संपादन करेंगे और एक व्यक्ति इतना सुनने समझने पर भी वो उसी स्थिति में है वो नहीं सुधारने के लिए तैयार जितना उन्हें सीखा उतना ही वह भूल जाता उनको दौड़ाता भी नहीं अपने विद्यासागर जी को आपको किस किस को बताया था ये उदाहरण के रूप में एक बात को समझाने की दृष्टि से कि आप पानी पिए तो एक पद्धति या तो गिलास भरो और मुंह लगा के पियो उसको मांझ के रखो एक स्थिति अथवा पानी भरो उसमें और हाथ से पियो फिर हाथ धोने की आवश्यकता गिलास को मांझने की आवश्यकता नहीं तो बता दिया आपको ठीक है ये वो उदाहरण है जो शिकाई हुई कल सायकाल की घटना होगी तो ये तीसरी पद्धति से पीते हैं आलसी प्रमादी या जो बुद्धिपूर्वक काम नहीं वो गिलास भरते रहे ऐसे पानी पीते बीच में मक्खी मच्छर आ जाए तो अंदर जाएगा और कोई खराब चीज आ गई तो वो रोक भी नहीं सकेगा ऐसे क्योंकि उसमें दबाव इतना होता पकड़ नहीं पाता चीज को खराब पानी में कोई चीज मिली हुई आ गई वो रोक नहीं पाएगा अंदर जाएगी और बीच में कोई चपेट में आ जाए तो वो भी अंदर जाएगी और पानी एकदम धड़ाम से पड़ेगा तो हमारी पाचन शक्ति में बुरा प्रभाव पड़ेगा क्या समझे आप नहीं आया समझ में अब कल इसने गिलास उठाया और पानी भरा वही मैंने कहा देखो इसको सिखा दिया पढ़ा दिया वही वही वही रीति इसने जो पहले अपना रखी थी वैज्यों की तो ये केवल एक उदाहरण है दरवाजा खुला मत छोड़ो दूसरे दिन वही दरवाजा जो का त्यों खुला तीसरे दिन वही दरवाजा जो का त्यों खुला ऐसे लोगों का सुधार कोई नहीं कर सकता जो इस रीति से चलते तो पानी पीने की रीति समझी है जी कभी कभी हम प्राय इस हाथ से पीते हैं ना पानी ऐसे प्राय प्रचलन या व्यवहारिकता यह है कि हम इस हाथ से पानी पीते हैं ठीक है ना इससे प्राय नहीं पीते ना तो हम इससे पानी पीते हैं पहले जब पानी पियेंगे तो इससे हाथ को धो ले जाते धो लो पहले क्या करोगे धो लेना चाहिए और फिर हम पानी पिएंगे धीरे धीरे पियेंगे मतलब धड़ाधड़ फिर हाथ को धो लेंगे अब यहां गिलास को मांझने की आवश्यकता नहीं एक स्थिति हो गई दूसरी आपने गिलास धोकर के ठीक पानी लेकर के धीरे धीरे पी लिया मुंह लगा के पिया फिर उसको मांझ के रख दिया ये दूसरी रीति और ये तीसरी है जैसे आप ऐसे पीते हैं ये आपने आलसी प्रमादियों का ये ढंग है गिलास मांझना नहीं पड़ेगा हाथ भी गीला नहीं होगा और पानी डाल दिया धड़ाधड़ तो इससे आप एक बात समझेंगे जो दोनों पद्धति बताई विद्या पढ़ने सुनने की उनमें उत्कर्ष उन्नत बनाने वाली रीति क्या है और नीचे गिराने वाली रीति क्या है वो आपको ज्ञात हो गया अब ज्ञात होने पर उसको आचरण में लाना उससे संबद्ध है बहुत सी बातें और जोड़ देना जो बात आज तक समझ में नहीं आई वो आचार्यों से पूछना फिर उन अच्छी बातों को लेखबद्ध करते जाना फिर उन बातों को पढ़ाने में काम ले आना ये रीति ऐसे चलती है एक बात है क्या इतनी गंभीर सूक्ष्म बातों को आप प्रयोग में ला करके समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते हाँ जी बोलिए या कर सकते कर सकते आप बोलो कर सकते हैं हाँ जी बताओ अपना अपना कर सकते हैं हादक जी बोलो हाँ, इन गंभीर बातों को जो बताई सुनाई गई है उनको आचरण में ला करके निश्चय से समाधि प्राप्त कर सकते हैं हाँ जी निश्चय से समाधि को प्राप्त कर सकते आप बोलो अपना अपना विचार बताओ कर सकते हैं कर सकते हैं अच्छा ये इसी जन्म की बात कर रहे हो किसी जन्म में इसी जन्म की बात कर रहे हो ना इसी जन्म को जोड़ो नहीं समझे आप किसी जन्म में कर लेना एक दूसरा विभाग है इसी जन्म में कर लेना एक भिन्न विभाग है इसी की बात है ना या नहीं है तो यदि आप ये जान गए मान गए कि कर सकते हैं तो ये निश्चित हुआ कि आप कर सकेंगे या नहीं क्या निषेध हुआ कर सकेंगे अच्छा आप मान के चले आप कर सकेंगे वैदिक विद्वान बन जाएंगे समाधि प्राप्त तो एक एक व्यक्ति कितने लोगों को सुधारेगा वो आप में से बोलो कितने को सुधार सकते हो आप दर्शनों के विद्वान बन के इन वेद अंगों के विद्वान बन के और समाधि प्राप्त करके कितने लोगों को सुधार सकते हैं सुधारने का तंत्र है अध्यापन का अध्यापन है उपदेश लेखन सब प्रकार की आप बोलो क्या तो बता नहीं ऊंचा बोलो तो निश्चित नहीं है कि या नहीं निश्चित तो नहीं इतना तो है कि अनेक लोगों को हम ये विद्या दे सकेंगे इतना तो होगा है या नहीं है हाँ जी बोलो तो इतना तो है ये निश्चित है एक संख्या निर्धारित मत करो फिर अनेक लोगों को आप ऐसे बना सकेंगे इस विद्या को दे सकेंगे बहुत प्रचार करेंगे अपने विचारों को लेखबद्ध पुस्तकें लिखेंगे और अनेक गुरुकुल चला के अनेक विद्वान बनाएंगे ऐसा तो हो जाएगा या नहीं होगा तो चार पांच है कितने हैं आप दस हैं या कितने बारह ये दुर्गंध को कपड़ा जला दिया क्या आपने क्या किया कपड़ा क्यों जला दिया है आपको यही तो यही हुआ होती है लेते हुए जानते उठते ही कपड़े को पकड़ेगी अग्नि वह ऊपर कपड़ा लगाया क्यों था आपने कपड़ा में दोनों ओर पकड़ा दोनों ओर से कपड़ा नहीं जलता ऊपर आया है कपड़ा नहीं समझे कपड़ा को दोनों ओर से पकड़ा था हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ऊपर के दिया है कपड़े को इसलिए कपड़ा जलाया है इतनी हुआ काम करनी चाहिए थी कि भाई परिणाम क्या निकलेगा कपड़ा जलेगा आपने ऊपर से तार जैसे तार को तो पकड़ सकते थे आप <laughs> तार ऐसे पकड़ देते तो कोई आपत्ति नहीं थी अब ये वो आपने दिमाग से नहीं ली कि देखो भाई ऊपर कपड़ा आएगा तो जलेगा और कपड़ा भी जल गया दुर्गंध फैला दी इससे अच्छा था तो ना उठाते तो अच्छा था अब दुर्गंध आ रही है आप दूर फेंको उस और फेंक दो जंगल में नहीं आपने भले ये सूत्र पढ़ा हो हे दुखम अनागतम और इसके प्रयोग नहीं करने आते आप अनागत जो दुख है उसको छोड़ देना चाहिए ये अनागत है आया नहीं था वो सोच लेता मैंने ऐसा कपड़ा ऊपर को किया और अग्नि पकड़ेगी उसको और फिर दुर्गंध फैलेगी कपड़ा भी जाएगा और दुर्गंध फैलेगी ये अनागत दुख था ध्यान नहीं दिया तो भोगना पड़ रहा आप कपड़ा भी गया और दुर्गंध भी पल्ले पड़ गई और आप इस विद्या को नहीं पकड़ोगे तो जैसे ये कपड़े वाले की गति है ऐसी गति आपकी होगी दुर्गति हेम दुख मनागत आपके सामने विद्या बड़ी भारी है अंदर और बाहर कुसंस्कार जन्म जन्मांतर के हैं आपने अपने जीवन को बाल्यावस्था से अब तक बिगाड़ने का प्रयत्न किया सुधार का बहुत कम वो ढेर का ढेर आपके पास में है अविद्या का कुसंस्कारों का यदि उसके दूर करने के लिए उसी स्तर पर परिश्रम नहीं किया गया तो हेम दुखम अनागतम सूत्र को आपने नहीं समझा हेम दुखम नागतम आपने एक विचार किया मन में एक विचार आया कि आज खीर बनेगी हलवा बनेगा और खूब खाएंगे मन में विचार आया तो उसने सोचा ये जो विचार आया आज खीर बनेगी ये राग जो हुआ है ये तो द्वेष को पैदा करेगा एक तो और फिर ये राग संस्कार पड़ गया तो फिर मुझे बसने नहीं देगा टिकने नहीं देगा बार बार फिर उसकी इच्छा होगी ये इंद्रिया चंचल हो जाएंगी दूसरी इंद्रियों के भोगों में भी रुचि होगी ये उसने देखा कि एक विषय में रुचि होगी तो पांचों इंद्रियों के विषय में रुचि होगी ये देखा उसने तो उसने रोक दिया था नहीं कुछ भी बनेगा वो खाने के लिए होगा और उसकी इच्छा नहीं करनी विचार नहीं करना वहीं से रोक दिया तो आप समझ गए कि हे एम दुख मनागतम को आपने समझ लिया हे एम दुख मनागतम आप समझ गए आने वाला दुख जो वो त्याज्य है उसको अभी से तैयारी करो आने जाएगा ये समझ में आया ऐसे पूरे जीवन की स्थिति को समझना चाहिए यदि हमने आज विद्या की प्राप्ति धर्म की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति समाधि की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास नहीं किया और अविद्या का नाश अधर्म का नाश कुसंस्कारों का नाश नहीं किया तो ये आने वाला दुख हमको छोड़ेगा नहीं नहीं छोड़ेगा यदि ऐसा मानते हैं आप तो सूत्र को समझ गए हे हम दुखम नागतम ये समझ में आ गया नहीं तो नहीं आया समझ और सूक्ष्मता से देखिए आप चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते लेते रहते आप देखिए आप आत्मनिरीक्षण करिए आप उस काल में तत्काल कोई विचार उठता उठा लिया जाता और वो आपके जीवन पर प्रभाव डालता आप ये नहीं देख पाते उस समय मैं इस विचार को उठा रहा हूं इसके परिणाम बहुत खराब होंगे वो उठ गया परिणाम उल्टे होने लगे ये व्यक्ति सावधान क्या करता है पहले से ही सावधान है ये कोई विचार यदि मेरी इच्छा के बिना अंदर प्रवेश कर गया तो दुख का कारण बनेगा हे हम दुख मना करते मेरी इच्छा के बिना कोई भी विचार आया वो दुख का कारण बन इसने रोक दिया बिना इच्छा के कोई विचार नहीं आ सकता तो हेम दुखम अनागतम ये ठीक लागू हो गया अधिकार पूर्वक विचारों को पकड़ना एक क्षति अनधिकृत बिना अधिकार के बिना योजना के बिना इच्छा के विचारों का आना ये व्यक्ति के लिए हानिकारक है क्या समझ में आया दोहराओ बिना योजना के विचारों का आना हानिकारक कई बातें लगी बिना परीक्षा किए विचारों का आना बिना योजना के विचारों को लेना बलात् विचारों का प्रवेश होना ये स्थिति व्यक्ति के लिए हानिकारक है यदि आपको देखना हो तो बिना विचारे बिना योजना के विचार आते हैं और अंदर प्रवेश उनका हो जाता है यद्यपि विचारों को हम लाते हैं और समझाया जाता है कि विचार स्वतः आ गए विचार स्वयं आ गए ऐसा माना जाता है आपका क्या परीक्षण है बताइए स्वामी जी मैं विचारों को उठाता हूँ ऐसा प्रतीत होने लगा है हाँ हाँ तो आपने ध्यान दिया प्राय व्यक्ति इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता इस निरीक्षण परीक्षण पूर्वक कोई विचारों की धारा नहीं चलती व्यक्ति के जीवन में वो धारा उसकी स्वतंत्र उच्छृंखल पराधीनता अनधिकृत मन के माध्यम से विचारधाराएं चलती रहती और जीवन को बिगाड़ती रहती पूर्व जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कार विषय भोगों को वो धाराएं उभारती रहती वो जो विचारधाराएं चलती उभारती हैं और नई उल्टी विचारधारा को उत्पन्न करती है हाँ जी क्या समझ में आया बोलो ऐसे बिना सोचे बिचारे बिना अधिकार पूर्वक विचारों को लेते रहना विचारों का आते रहना बिना परीक्षा के बिना योजना के बिना अधिकार के ये विचार क्या करते हैं जन्म जन्मांत की बुरी वासनाओं को उभारते हैं विषय भोग की ओर धक्का देते हैं और नई वासनाओं को और पैदा करने में कारण बन जाते हैं यही विचार और क्या करते हैं ये विचार जो अच्छे विचार हैं उनको दबा देते आपको ये समझ में आया ये क्रियाएं मानसिक क्रियाएं जो होती हैं ये कैसे होती है कुछ समझ में आई और आप एक क्षण भर भी इसके बिना रह नहीं सकते या तो पूरा जीप चलाने वाला कार चलाने वाला गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ की कभी चोटियां देखी हो कहीं गए हो सुना हो जब वो चोटियों पर कार चलाता है या जीप एक और इतना गगनचूमी पर्वत है दाएगा मान के चलो और बाई और इतनी खाई है कि व्यक्ति गिर जाए तो चील भी पता नहीं लगा सकती और जब वो व्यक्ति चलाता है वहां दाए बाए मोड़ होते हैं और देखता है कहाँ घूम रहा है यदि वो ऐसा यदि झटका लग जाए तो ना कार का पता चलेगा ना व्यक्ति का ना यात्रियों का एक टुकड़ा टुकड़ा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा ऐसे जो व्यक्ति वो रहता है तब तो व्यक्ति बेचारों को रोक सकता है नहीं तो नहीं रोक सकता नहीं रोक सकते आप अधिकार पूर्वक परीक्षा पूर्वक विचारों को लेना अधिकार पूर्वक परीक्षा पूर्वक विचारों को छोड़ना और जिस समय जिस विचार को लेना चाहिए उस समय उस विचार को लेना जिस समय जिस विचार को नहीं लेना चाहिए उसको न लेना साधक जी ने प्रश्न उठाया था वो याद है आपको विचारों के क्षेत्र में या नहीं परीक्षा किए हुए विचारों को भी अनधिकृत रूप में न लेना और जिस समय उपासना का समय जैसे हो तो उसमें परोपकार के जो निर्धारित कर्म उपकार अच्छे कर्म है उनको भी न लेना न आने देना इसके अंतर्गत है क्या समझ में आया उपासना काल में अधिकार पूर्वक परीक्षित विचारों को भी न आने देना हम्म। आपको उदाहरण याद है आप उपासना में बैठे और उससे पूर्व आपकी मान्यताएं योजनाएं गरीबों को अनाथों को विद्यार्थियों को तनमन धन से सहयोग देने की योजनाएं चल रही है और ये उत्तम कार्य है राष्ट्र के लिए अच्छा है पर वो निर्धारित मान्यताएं परोपकार भला करना ये सब अच्छा है पर बिना अधिकार के यदि वो उपासना काल में आप उनको पकड़ लेते हैं तो आप खतरे की घंटी के क्षेत्र में आ गए आपत्ति आपने खड़ी कर ली वहां पर भी दो धाराएं बलात् आना उनका और अधिक इच्छा पूर्वक ले लेना उनका दो स्थिति भिन्न भिन्न अब क्या समझ में आया आना और इच्छापूर्वक दो स्थिति बलात् उसका अंदर प्रवेश करना आप रोकना चाहें तो भी न रोकना एक अथवा इच्छा पूर्वक ले लेना कि हाँ इन बालकों की इन विद्यार्थियों की ये ये सहायता करनी चाहिए इच्छापूर्वक लिया आपने अब परिणाम ये होता है कि वो आपने इच्छापूर्वक ले लिया विचार कि इन बालकों की विद्यार्थियों की ये ये ये ये सहायता करनी चाहिए ये अच्छा कार्य है उत्तम कार्य है और आपने इच्छापूर्वक ले लिया उसको अंदर अब आप कुछ काल के पीछे जोर लगाएंगे कि अब नहीं परोपकार की बात अब नहीं सोचनी तनमंद से सेवा करनी अच्छी बात है पर अब विचार में नहीं करूंगा ऐसा आपने सोचा आप जोर लगाइए वो विचारधारा परोपकार की विचारधारा सहायता की विचारधारा आप से रुक नहीं पाएगी वही फिर विचार उभर करके आपके अंदर विचरने लगेंगे आप विवश होकर के प्रयास के दो अलग अलग विभाग हैं प्रयास करने पर रोक देना यह अलग स्थिति है उस धारा को और प्रयास करने पर भी रोक सकना यह दूसरी विचारधारा कम योग्यता का व्यक्ति है और उसको उठाना ही नहीं उस काल में यह तीसरी विचारधारा है क्या समझ में आया लोग में इच्छा पूर्वक विचारों के प्रवेश हो जाने पर एक स्थिति है कि उसको प्रयास पूर्वक रोक देना हम्म। उससे कमजोर स्थिति है कि रोक ही ना पाना हम्म। तीसरी तीसरी धारा ये है कि व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्वक उन विचारों को लेता रहे आ, लेना ही नहीं हाँ मतलब लेना ही नहीं उपासना काल में लेना ही नहीं ये स्थिति अलग है वो जानता है यदि मैंने विचारों को ले लिया तो फिर वही समस्या खड़ी होगी जो पहले मैंने बताई आप और दुष्ट जान ले लो आपका मित्र है विशेष मित्र है घनिष्ठ मित्र है वो देश का हो विदेश का हो आज आया है आपने सोचा मेरा मित्र आया है आज उससे ये ये बातें करूंगा ऐसे ऐसे मैं उसको सहयोग दूंगा अथवा ये ये बातें उनसे मैं सहयोग लूंगा आपने ये धाराएं सोची संध्या से पहले और फिर संध्या में जाके बैठ गए आप अब वहां जाके घटना घटेगी आप प्रयोग कर सकते हैं आप या नहीं समझे आप हाँ जी ये धाराएं जो कि तो आएंगी भिन्न प्रतिबंध लगा देना मित्र की बात मित्र के देने लेने की बात इस समय नहीं सोचनी बंद कर दिया अधिकार ये ठीक हो नहीं सोच फिर वो विचारधाराएं उभरी और उसने उभरते ही रोक दिया समर्थ है वो व्यक्ति उसने रोक दिया रुक गई एक भिन्न स्थिति उसने विचारधारा को उठा लिया फिर रोकना चाहा वो नहीं रोक सका और वो पूरी संध्या में वही विचारधारा और एक और धारा इसमें चल चली अब तो मित्र की बात थी मित्र तो एक इकाई है एक और थी गरीबों को सहायता देने की ये दूसरी है एक और तीन तीव्र इच्छाएं हो सकती है मित्र से मिलने की एक इच्छा गरीबों को सहयोग देने की दूसरी इच्छा ऐसे दो तीन हो सकती है यदि वो एक विचारधारा को रोकने लगा मित्रवादी को तो वो गरीबों को सहायता देने वाली अंदर कूद पड़ी या ये कहना चाहिए उसने उठा लिया क्या समझे आप जैसे उसको रोकने की प्रयास किया ना उसने और रोकते रोकते वो दूसरी आ पड़ी अब वहां पर भी दो तीन धाराएं उसको उठने ही नहीं देना एक और उठते ही रोक देना दो और थोड़ी देर यदि न रोका तो वो धारा आरूढ़ हो जाएगी मित्र वाली उसके नीचे दब जाएगी यदि मित्र वाली प्रबल होगी तो मित्र वाली प्रबल रहेगी यदि वो गरीबों के सहयोग की होगी तो वो प्रबल रहेगी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ इन सभी विचारधाराओं को अधिकार पूर्वक रोक देना यदि योग दर्शन की भाषा में आप देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा पढ़ाया होगा है जी परमाणु परम महत्वांतो अच्छे वशीकार है छोटे से छोटे पदार्थ में बड़े से बड़े पदार्थ में वो अधिकार पूर्वक रोक देना वशीकार की ये सीमा क्या समझे आप न्याय समझ में दोहराओ तो छोटे से हम्म, हम्म। छोटे पदार्थ में मन के नियंत्रण की सफलता होने पर और बड़े से बड़े विषय में भी मन को रोकने की सफलता होने पर वह मन का नियंत्रण उच्च स्तर का होता है यदि आप इन विचारधाराओं को नहीं जानते नहीं समझते और प्रयोग नहीं करते तो 20, 30, 50 वर्ष में भी आपकी स्थिति ऐसी नहीं बन पाएगी कि अधिकार पूर्व का एक विषय में मन को लगा सकते नहीं हो सकता है क्योंकि आपके प्रयोग नहीं आप प्रयोग नहीं करते जब प्रयोग नहीं करते खोज नहीं करते कैसे कैसे ये उभरती है और आप पूरे दिन भर ऐसे नहीं रहते तो आप कैसे गवेषणा कर लेंगे योग की समाधि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते इसलिए पढ़ने पढ़ाने वाले विफल हो जाते हैं योग प्राप्ति नहीं होती हाँ जी जब स्वामी जी उपासना में बैठते हैं और कभी कभी ऐसे विचार आते हैं आते हैं ले आते हो ले आते हाँ। तो आपके बातों को याद करते हैं हम्म। कि ऐसे प्रलय वक्त लाना चाहिए ऐसे उसको रोकना चाहिए तब उसमें उसमें दो धाराएं हैं आप अधिकार पूर्वक जब ये उद्वेग हुआ धाराएं मन से पार होने लगी रुक नहीं पा रहे उस समय आपने मुझसे सुनी प्रलवत बनाना फिर सुना ईश्वर समर्पित हो जाना देखो ईश्वर को ही स्वामी मानना उस समय नीचे काम लेना अच्छा है बुरा नहीं नहीं जब जब आक्रमण होता है तभी तो अस्त्र शस्त्र काम देते हैं विरोधी व्यक्ति आक्रमण करेगा बहुत लौकिक दृष्टि से तभी तो किस अस्त्र शस्त्र का कैसे प्रयोग करें वो तो वो है वहां जब आक्रमण होता है विचारों का अब ये हमने सुना था ये हमने पढ़ा था इसका प्रयोग करो वो प्रयोग करके झट उसको रोक देगा और जो याद ही नहीं उसको क्या प्रयोग होगा यहां पर उसको करना नहीं आता इसी प्रयोजन से सिखाया गया और इसी प्रयोजन से सुना है हाँ तो नहीं करता वो प्रयोग और उसको तो फिर सफलता नहीं मिलेगी उसने क्या किया विचारधाराएं फैलने लगी फैलने लगी आपने पहले समझने का प्रयास किया संसार को प्रलवत अवस्था में भेज दिया आपने बौद्धिक स्तर पर अनुमान से जैसे प्रलवत अवस्था में आप ले जाएंगे कोई विचार तरंगे नहीं रहेगी सारी समाप्त हो जाएंगे यदि आपको प्रलवत अवस्था बनानी आती है तो कोई तरंग विचार वृत्ति नहीं रहेगी सब रुक जाएंगे एक और प्रलवत अवस्था बनाना और एक और ये जानना मन जड़ पदार्थ है और मन में मैं ही विचार उठाता हूं मन नहीं उठाता यदि ये साथ न रहे तो प्रलवत अवस्था को रोकना मुश्किल हो जाएगा अब क्या समझ में आया मैं ही इस अवस्था को उठाता हूं और दूसरा कोई कारण नहीं है इसको नहीं जानेंगे तो प्रलयवत अवस्था में रुकना मुश्किल है उसने सुना पढ़ा ईश्वर व्यापक है सर्व व्यापक है एक बात और जीवात्मा व्याप्ति एक देशी है ईश्वर व्यापक है सत्वर प्रकृति व्याप्ति है एक देशी है ईश्वर व्यापक है अरबों खरबों लोक लोकांतर कार्य जैसे व्याप्य है तो कितने विभाग बन गए नहीं रहा यार हाँ जी उदय जी बोलेंगे कितने विभाग बने कौन कौन से स्वर व्यापक है जीवात्मा व्याप्य है प्रकृति व्याप्त है और अन्य पदार्थ भी व्याप्य है हम्म। कितने विभाग हो गए कौन कौन से जो जीवात्मा प्रकृति व्यापक जोर से बोलो औरों को भी तो सुनाई दे प्रकृति व्याप्य है प्रकृति व्याप्य है हाँ हाँ ईश्वर व्यापक है और, और जीवात्माएं व्याप्य है हम्म। हाँ है और ईश्वर व्यापक है और और जो प्रकृति के को परमाणु वो भी परमाणु या और कुछ पदार्थ हम्म? पदार्थ होता है प्रकृति से बने कार्य जगत तो क्या किया उसने कि व्यापक और व्यापक के सिद्धांत को मान के मन को रोकना है तो हमने विभाग बनाया पत्ते पत्ते को नहीं बिचारना हमने कहा कि जीवात्मा व्याप्य है एक जगह अणु है जीवात्मा जितने हैं वहां ईश्वर विद्यमान है और जहां जीवात्मा नहीं है वहां भी ईश्वर विद्यमान है यहां जीवात्मा है यहां नहीं है प्रकृति व्याप्य है जहां प्रकृति है वहां ईश्वर विद्यमान है जहां प्रकृति नहीं है वहां भी ईश्वर विद्यमान है दो दूसरा विभाग है मैं तत्व से लेके पूरा संसार अरबों खरबों लोक लोकांतर कार्य जगत ये एक देशी है इस जहां जगत कार्य जगत वहां ईश्वर विद्यमान है जहां कार्य जगत नहीं है सृष्टि नहीं है वहां पर ईश्वर विद्यमान है तो तीन विभाग बनाए हमने ये तीनों वर्ग व्याप्य है और ईश्वर व्यापक उसने ऐसा संपादन किया जब ऐसा संपादन वो करके चलता है तो परिणाम ये निकलता है कि वृत्तियों के रोकने में मन के रोकने में सुविधा हो जाती है समझ में नहीं आया हो तो बोलो वो अपने मन से बुद्धि से जो दौड़ लगाता है वो जहां भी दौड़ लगाएगा वहां ईश्वर विद्यमान है क्या समझिया जीवों के विषय में सोचेगा तो जहाँ जीवात्मा है वहाँ ईश्वर विद्यमान है जहाँ जीवात्मा नहीं है वहाँ ईश्वर विद्यमान है यदि प्रकृति के विषय में सोचता है तो जहाँ प्रकृति विद्यमान है वहाँ ईश्वर विद्यमान है जहाँ नहीं है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है कार्य सृष्टि के विषय में सोचता है तो जहाँ सृष्टि के पदार्थ बने हुए वहाँ ईश्वर विद्यमान है न नहीं अब उसके ऊपर क्या प्रभाव है व्यापक का प्रभाव उसके ऊपर है अब ईश्वर को छोड़ के उसका मन कहा जाएगा कोई स्थान नहीं है आप किसी का ध्यान करो अमुक व्यक्ति जीवात्मा जीवात्मा की ओर चले आप आपने देखा जीवात्मा जहां है वहां ईश्वर विद्यमान है और जहां नहीं है जीवात्मा बाय दाए वहां ईश्वर विद्यमान है सत्वरजतम का विचार किया सत्वरजतम जहां है उन्हें देखा वहां दौड़ो वहां सत्वरजतम जहां पर है जिस जगह पर वहां ईश्वर विद्यमान है जहां नहीं है वहां ईश्वर विद्यमान है कार्य जगत एक पदार्थ पर जाएंगे पदार्थ जहाँ जाएंगे पेड़ पर जाओ जहाँ पेड़ है वहाँ ईश्वर विद्यमान है और जहाँ नहीं है वहां भी विद्यमान है अब वो बताइए ईश्वर को छोड़ के कहाँ जाएगा कोई स्थान है क्या क्यों जी है जी कोई स्थान नहीं कोई स्थान नहीं अब उन तरंगों को रोकने में सुविधा हो गई है का प्रयोग किया क्या कि हम अपने विचारों को सभी विषयों से रोक देते हैं आपका प्रयोग हो तो बताओ किया हुआ हम्म? आपको मैं अभी कहूं सभी विचारों से मन को रोक दो तो आप कर लेंगे ऐसा या नहीं कर पाएंगे प्रमाण वृत्ति बनती है स्वामी जी कोई भी बने हम बनेगी हो तो बनती है बना लेते हैं आप रोक नहीं पाते जैसे हवा की अनुभूति है कभी कभी उसकी दो धाराएं हैं आवाज आवाज आ रही है कल्पना कीजिए वो टकराव होता है ना आवाज आ रही है आवाज आ रही भले वो विषय नहीं बन देते आप अपने मन का ये एक धारा उसमें है आप आवाज आ रही है आप उसको विषय नहीं बनने देते और एक आवाज आ रही है वो विषय बन जाता है मन का ये स्कूटर की आवाज है ये व्यक्ति की आवाज है ये मील की आवाज है ये रेल की आवाज है वो विषय बन जाता विषय नहीं बनने देता वो किसकी आवाज है नहीं ये इन स्थितियों के बनाने के लिए व्यक्ति को ये सब बातें जाननी होती है जैसे कभी कभी ईश्वर व्यापक है तीनों तीनों विभागों में तीन विभाग विश्व के बनाए हमने प्रकृति एक विभाग है जीवात्माएं दूसरा विभाग है अरबों खरबों लोक लोकांतर तीसरा विभाग है ये भी एक प्रयोग है अथवा आपने पूरे विश्व को प्रलवत बना दिया तो प्रलवत बनाना एक दूसरा विभाग है ये प्रयोग होते हैं भिन्न प्रलवत अवस्था नहीं बना पाया व्यक्ति पर वो इतना जान गया कि मन को चलाने वाला मैं हूं और मन जड़ पदार्थ है एक विभाग है उसी आधार पर उसने तरंगों विचारों को इस रूप में देखना जैसे आपने सुना पूरे दिन भर पर्वत की चोटी पर कार चलाने वाले की बांति दिन भर रहना ये साधना ये निरीक्षण परीक्षण ये तप त्याग आपको करना ही पड़ेगा तब तो आपने समझा कि हम योगी बन सकते हैं तो बन सकते हैं आप यदि इतनी सावधानी नहीं है इतना तप त्याग नहीं है इतना वैराग्य नहीं है इतना ईश्वर प्रणिधान नहीं है तो आप जो समझते हैं हम योगी बन सकते हैं ये नहीं हो सकेगा आप इतने दिन योगी बन जाओ वैदिक विद्वान बन जाओ तो कितना उपकार होगा भारत का या विदेश का कितना लंबा चौड़ा होगा पता चलेगा आपको हुँ? हम्म? या नहीं क्यों पोरबंदर की घटना हो सकती है ये बीच बीच में हम आर्य समाज में दो बार कार्यक्रम लगभग होता प्रातः है सायकाल और दिन में कई दो बार कहीं तीन बार विद्यालयों में उपदेश चलते थे नगरों में जिस नगर में हम जाते धरांग धराम गए फिर इसी प्रकार लगभग ऐसा रहता तो एक विद्यालय ऊंचे स्तर का था नाम मुझे याद नहीं उसमें ऊंचे स्तर की ही बड़ी बड़ी लड़कियां थी जवान सभी और संख्या भी बहुत अधिक थी तो उस समय ये प्रसंग उठाया गया योग का प्रसंग था और मैंने पूछा या तो आप गार्गी बनो या झांसी की रानी बनो क्या समझे आप या तो विदुषी बनो या तो वीरांगना बनो ये प्रश्न उठाया और जो गार्गी बनना चाहती है वो हाथ खड़ा करो अनेकों हाथ खड़े कर दिए अच्छा मैंने कहा जो झांसी की रानी बनना चाहती है वो दोनों पक्षों में पूरी संख्या आई अच्छी आई मैंने कहा यदि इतनी गार्गी बन जाए और इतनी झांसी की रानी बन जाए तो भारत तो सोने की चिड़िया हो जाएगा <laughs> अच्छा उनको लगा कि हाँ, ये मैंने कहा इतनी बात हो जाए मान के चलो तो भारत तो फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा आज आप बारह जने यदि योगी बन जाए विद्वान तो क्या होगा परंतु आपने सुना है नचिकेता को सारी बात सुना दी है जी उत्तिष्ठत है फिर क्या कहा उत्तिष्ठत जागृत है प्राप्य वरान निबोधत खुरुष्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त तवय बदन ये चेतावनी दी ये चेतावनी है आप जो आजकल का ढीला जीवन है ना ये लौकिक लोगों जैसा इसमें व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता आप विद्वान शब्दार्थ संबंध के विद्वान बन सकते हैं उपदेशक बन सकते हैं लेखक बन सकते हैं गुरुकुल चला सकते हैं ये समाज के लिए अच्छा काम बहुत अच्छा है पर योगी बन जाना ईश्वर साक्षात्कार कर लेना ये बहुत ऊंचा काम और बहुत आदर्श जीवन है ये जो ऊपर का जो जीवन है और ऐसे लोगों की ही आज कमी है न्यूनता है जिसे राजनीति सारी दूषित हो गई है व्यवसाय सारा दूषित हो गया है विद्यार्थी वर्ग सारा बिगड़ चुका है अध्यापक वर्ग लगभग बिगड़ा हुआ एक आध को छोड़ दो किसी भी भाग को लो वो सारा का सारा इतना खराब हो गया कि मनुष्य बनने की बात ही नहीं रही और यदि आप यदि इतनी तैयारी नहीं करेंगे तो आप भी उन भेड़ों में भेड़ जाके मिल जाओगे वो आपको समेट लेंगे अपने अंदर और यदि बनेंगे तो आप उनमें जाकर के आबद्ध होके उसको मोड़ देंगे समाज के जीवन को मोड़ेंगे राजनीति को मोड़ेंगे व्यवसायों को मोड़ेंगे जवानों को युवकों को मोड़ेंगे वो ऐसी स्थिति है उतनी क्षमता प्राप्त करो तब तो ये चीज होगी नहीं करोगे तो आप उनके अंदर जाके मिलके खड़े हो जाओगे उन जैसे अब विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वया